में कोई चीज दिखाई नहीं देती और उसमें जो मुख्य लक्ष्य था ईश्वर प्राप्ति करना कराना वो छोड़ दिया और तीन ऐसाओं को पूरी करने में लग गए ये दोष आया आधुनिक सली श्री राजनीति इसके साथ जुड़ी और राजनीति ने उसको बिल्कुल ही जीर्ण शीर्ण करके बना दिया खराब कर दिया उन्होंने ये नहीं देखा ये नहीं माना वेद क्या कहता है ऋषि दानंद और ये ऋषि क्या कहते हैं ऋषियों ने क्या लिखा है मैं उससे उल्टा तो नहीं कर रहा हूँ ये नहीं देखा नहीं नहीं वो देखते हैं गद्दी कैसे मिले मुझे अधिकार कैसे मिले मेरी रचना पूरी कैसे हो इसको नीचे कैसे गिराऊं वो इन मन लग गए जब लग गए तो क्या हुआ उसके ये जो साहित्य और वैदिक विद्वान उसका प्रचार और उसका संगठन उसका प्रभाव के कारण अन्य संप्रदायों आप प्रभाव पड़ा कि भाई अपने वेद को मानने वाले वैदिक धर्म को मानने वाले लोग तो झगड़ते रहते हैं झगड़ाते हैं झगड़ालू होते हैं इनको बात तक करनी नहीं आती ये प्रभाव पड़ेगा व्यवहार पर अब आप देखेंगे ये हम कहें और छोड़ दें हम ऐसा नहीं मानते हम ये मानते हैं जो कमियां आ गई आज हैं उन कमियों को दोषों को दूर करेंगे ये हमारा काम है ये नहीं हो रही कमियां दूर ये हमारा दोष है हम ऐसा कह के छुटकारा नहीं पा सकते कि करने वाले करते हैं त्रुटियां हो रही है तो हमारा तो कोई दोष है ऐसा नहीं कह सकते विचारने का ढंग क्या है कि हम वैदिक परंपरा को ऋषियों की बातों को इन ग्रंथों को पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और विद्वान तैयार करेंगे और जितने भी मत मतांतर हैं वेद के विरुद्ध उनको हटाएंगे उनके लिए आचरण चाहिए ऊंचा आदर्श आचरण उनके लिए विद्या बहुत चाहिए पहले अपनी विद्या अंग उपांग पढ़ के विद्वान बनो फिर मुख्य रूप से उनके ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए दूसरे संप्रदायों का यदि हम उनका अध्ययन नहीं जानते क्या लिखा है जैसे मैंने ब्रह्मा कुमारी के पुस्तक का अध्ययन किया उनकी रूपरेखा का मुझे पता चल गया अब जब भी बात करनी है बातचीत करनी है क्या किया क्या नहीं किया उनमें क्या दोष है क्या गुण है अब चाहे जब बात कर सकते चाहे जब शास्त्रार्थ कर सकते चाहे जब हम उनकी बात को रख करके खंडन कर सकते हैं देखो आपकी बात ये है और हम उनके आक्षेपों का उत्तर दे सकते हैं यद्यपि खंडन करने का मतलब ये नहीं लेना चाहिए उनसे हम कुछ विरोध करेंगे उनका हम कुछ बुरा चाहेंगे हम उनकी हानि करेंगे ये दिमाग नहीं होता वैदिक परंपरा ये नहीं होता वैदिक परंपरा का दिमाग ये होता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा भाव सुनाता हूं कि जैसे मैं कुरान और बाइबल को पहले ही अश्रद्धा की दृष्टि से न देख करके पढ़ता हूं पहले ही उसको बुरी दृष्टि से न देख के कुरान को बाइबल को पहले ही बुरी दृष्टि से देख के मैं नहीं पढ़ता कि ये बुरी है नहीं उनको पढ़ते हैं उनमें सत्यता क्या है इस दृष्टि से पढ़ते हैं फिर हम किसी का खंडन कर दें जिसको बोलते हैं वो हम प्रेम से करते वो हम अपमान की दृष्टि से नहीं करते वो हम कटु शब्दों में ऐसे नहीं करते इतना कठोर उसको एकदम बुरा लगे ऐसा नहीं करते और हमें बातचीत करते समय मीठा बोलते हैं अच्छा बोलते हैं प्यारा लगता है और हमें जब वो आएंगे उनसे हम मिलेंगे उनकी सेवा करेंगे हम जैसे उन्होंने एक काम अपनाया जो आएगा उनके वहां पता है रहता है उसके लिए अच्छे से अच्छा भवन है अच्छे से अच्छा भोजन है अच्छे से सब प्रेम से बात करेंगे वो चाहे उनके मतवाला हो जाए ना आप देख सकते हैं अब हम गए कल्पना कर जो कमरे उन्होंने दिए कितने शुद्ध थे उसमें गर्म पानी की व्यवस्था ठंडे की व्यवस्था कोई भी कल्पना कीजिए आप वस्त्रों की देखो इतने शुद्ध वस्त्र हैं इतने चार पाई जो कुछ था ये हैं और बाहर भीतर से कितना शुद्ध था कोई भी ऐसी चीज नहीं जो चाहिए व्यक्ति कर उसकी व्यवस्था ने कर रखी हो फिर भोजन खिलाएंगे तो वो शुद्ध भोजन होगा अच्छे से अच्छा भोजन होगा वो खिलाएंगे एक व्यवहार की बात कोई भी व्यक्ति पहले से उसके अपने दिमाग को ऐसा बना लिए बहुत खराब व्यक्ति इसकी क्या सेवा करनी है <laughs> इसे क्या बातचीत करनी है ऐसे ऐसे बना करके वो चलता है परिणाम ये लगता हाँ, अपने व्यक्ति भी प्राय हो जाते हैं दूसरे को तो अपने साथ लाने की बात छोड़ दीजिए अपने जो व्यक्ति होते हैं वो भी विरोध में चले जाते हैं अपेक्षा कर देते दूर विघटन हो जाता ये परिणाम निकलता व्यक्ति अपने को बनाया रखे और विरोधियों को अपने साथ जोड़े इतनी क्षमता उसको उत्पन्न करनी पड़ती एक हमने कथा सुनी है स्वामी दान सरस्वती के विषय में सुनी हुई कथा है या जीवन चरित्र माता होगा वो लिख रखा होगा एक कोई साधु थे या व्यक्ति थे और वो स्वामी जी जहां ठहरे हुए थे उसके पास में रहते थे और वो स्वामी जी को बुरा भला कहते थे खूब गालियां देते थे अब बताया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी उनके लिए फल ये वो भेजते उस व्यक्ति के लिए इतनी उदारता व्यक्ति में होती है उसको बनानी पड़ती है तो एक बात मैंने आपको बताई ये जो परंपरा है वैदिक परंपरा जो है वेदों की विद्या है दर्शनों की विद्या है ये ऐसी लुप्त जैसी हो चुकी थी वो महर्षि दान सरस्वती जी ने आकर के इसको उपस्थित फिर कर दिया वैसी परंपरा बना के रख दी जैसे कि आदि सृष्टि से चली आ रही थी लगभग वही परंपरा मतलब पूरी ने सही वो रूपरेखा पूरी की पूरी बता दी यदि ऐसा न होता तो पता नहीं यार ये समाज होता ही नहीं और ये जितनी परंपराएं गुरुकुल चले रही इतने विद्वान ये निकलते ही नहीं और उल्टी परंपराएं कितनी भारत में आती उनकी कल्पना हम नहीं कर सकते और वेद के विषय में इतनी भ्रांतियां थी और वो और आगे बढ़ जाती वेदों के विषय में पूरी की पूरी ये सब उन्होंने रोक दिया वेद की उल्टी परंपराओं को धराशायी कर दिया खंडित कर दिया देशी और विदेशी लोग ये मानने लगे कि वेद में विशुद्ध विद्या है वेद महान ग्रंथ है ये गडरियों के गीत नहीं है ये सिद्ध कर दिया विदेश के विद्वान भी ये मानते और हमको परंपरा मिली गुरुकुलों की अंग पढ़ो उपांग पढ़ो अष्टाध्यायी व्याकरण दर्शन वेद ये पढ़ो पढ़ाओ ये हमको परंपरा मिल गई आज जब हम इस परंपरा में अंग उपांगों को पढ़ करके वेदों को पढ़ करके योगाभ्यास करके यदि हमें महर्षि धान सरस्वती जी की भांति यदि इसको इस रूप में नहीं उतारते समाज धरती पर तो हम दोषी माने जाएंगे भला इतनी कठिन स्थिति में इतनी विपरीत अवस्था में हमको ये वस्तु तत्व मिल गया और हम इतनी आज जो सुविधाएं इतनी उसमें नहीं थी और इतनी अवस्था होने पर भी हम हम कोई ध्यान नहीं देते इसका कोई उपयोग ऐसा नहीं जैसा होना चाहिए ऐसी कोई तैयारी नहीं व्यक्ति ये सोचता रहे कि मैं वेद का विद्वान बनूंगा योगी बनूंगा और समाज को राष्ट्र को पूरा जीवन समर्पित करूंगा इस सब साक्षात्कार करूंगा और करवाऊंगा ऐसी योजना नहीं नहीं बनाता व्यक्ति तो ये बहुत बड़ा दोष है देखोगे आप थोड़ा भारत की क्या स्थिति है पूरे भारत ईश्वर राजनीति भारत की स्वतंत्रता ईश्वर देखेंगे आप भारत की ऐसी स्थिति है वर्तमान में अनेक विषयों में भारत पराधीन हो चुका है अब वर्तमान काल अनेक विषय और यदि इसको न रोका जाए तो सभी विषयों में पराधीन होता होता ये भूमि भी परायों के हाथ में चली जाएगी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी ये स्थिति आ रही है अब ये देख लीजिए लोग अब अपने घर की बात सोचते हैं और जो ऊपर का वर्ग है एक आध को छोड़ दो अच्छे भी होते हैं दुनिया में बुरे भी होते हैं प्राय कितने प्रतिशत ये तो कहना कठिन है नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी अधिकारी वर्ग चाहे लोकसभा के सदस्य हों चाहे विधानसभा के सदस्य हों और दूसरे वर्गों के अधिकारी हों बिजली विभाग ले लो और ले लो नहर का ले लो जो भी लेते चले जाइए विज्ञान के ले लो सब के सब एक आध को छोड़िए बिल्कुल भारत को लूट रहे हैं और भारत को दरिद्र बना रहे हैं हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं अब पिछले दिनों आपने देखा होगा आज वहां पर अस्त्र शस्त्रों के भंडार में आग लगी आज वहां पर आग लगी आज वहां पर आग लगी पता नहीं मैं गणना नहीं कर सकता ये मैं सुनता रहा आज वहां का भंडार जल गया अस्त्र शस्त्रों का भारत का आज वहां का भंडार जल गया अस्त्र शस्त्रों का आज वहां का एक के पीछे दूसरा एक के पीछे भला क्या दिमाग है फौज लड़ेगी किससे क्या इनका दिमाग नहीं था ये अस्त्र शस्त्रों में आग लगती है कैसे लगती है उसको बता दें अब दिल्ली में आग लगी चांदनी चौक में और बिजली से लगी मानी जाती है और करोड़ों की राख हो गई अब बिजली विभाग क्या करता है क्या नहीं करता इसका कोई मतलब नहीं है वो चाहे जैसा मनमाना करता है उसको पैसे ले लेना नौकरी और ऊपर की जो रिश्वत और उसके भारत की क्या नुकसान होगा बिजली कहाँ खराब हो गई कहाँ होने कितनी आग लगेगी तो क्या होगा विज्ञान भवनों में भी आग लगी अब ये भारत की स्थिति है तो क्या हम ऐसे ही बैठे रहे या क्या अपने एक व्यक्तिगत बात को सोचते रहे क्या एक घर की बात सोचते रहे हम आज तो शीघ्र से शीघ्र विनाश होगा इससे यदि ऐसे सोचते रहे तो आपने सुना है स्वतंत्रता प्राप्ति के काल में दो दोनों धाराएं थी अंग्रेजों को रखने वाले की धारा थी बहुत लंबी चौड़ी संख्या उनकी न रखने वाले कम थे बहुत कम जो अंग्रेजों को निकालना चाहते थे और उस समय की स्थिति आपने सुनी होगी जो भी अंग्रेजों के विरुद्ध काम करता था तोप के गोले के सामने रख करके उड़ा देती ये चलता रहा और फिर ये भगत सिंह सुभाष और ये जब आए दो रूप थे महात्मा गांधी जी का ठंडा दल और उनका गर्म दल तो दोनों आप अपने ढंग से काम करते थे तो इनमें क्या था चंद्रशेखर भगत सिंह ये यही बात सोचते थे भारत को स्वतंत्र करना है मर जाएंगे या स्वतंत्र बनाएंगे यही सोचते तो कुछ सोचते ही नहीं थे भारत को स्वतंत्र देखेंगे हम जीना नहीं जीना हमारा काम नहीं है जीना मर ये सोचते थे तभी भारत स्वतंत्र हुआ नहीं तो नहीं होता आज हम घरों को बैठे रहे चुपचाप बैठे रहे खाते कमाते रहे और कोई चिंता नहीं तो ये भारत आज जो स्वतंत्र हुआ है ये पराधीन हो जाएगा ये स्थिति आ चुकी है अनेक क्षेत्रों में आ चुकी है संविधान को आप ले लीजिए संविधान बनाना है कल्पना कीजिए विदेश की वस्तुएं आती है उन पर कर लगाना है भारतीय सरकार ने इतना कर लगेगा और विदेशियों को वो अनुकूल नहीं पड़ता इतना कर क्यों लगाते तो विदेशियों का डंडा घूमता है कि हमारा ऋण दो और उसका जो ब्याज बना है वो दो और जब तक नहीं देते ये कानून ये विधान नहीं बना सकते कि विदेशियों की वस्तु पर इतना कर लगेगा वहीं कानून रुक जाएगा नहीं बना सकते आप पराधीन है कानून बनाने संविधान बनाने में पराधीन है भारत एक एक को लेकर जी राजीव दीक्षित जी ने बहुत निर्वाचन किया है बहुत क्षेत्रों को खोज खोज के खोज खोज के उन्होंने साहित्य भी लिखा है और ये संविधान भी ढूंढे हैं कहां कहां पर क्या किया वो प्रमाण सहित खंडन मंडन करते हैं कारखाने कंपनियों के विषय में कितना लंबा चौड़ा बताते हैं भारत की कंपनियों में जो चीजें बनेगी उन पर कर लगेगा इतना अधिक और विदेशी कंपनियों में जो चीजें बनेगी उनमें कम कर लगेगा ध्यान देना कम कर लगेगा उन तो कौन किसकी चीजों को खरीदेगा ये बताओ भारत की कंपनियां कारखाने बंद होते चले जाएंगे और ये धन जाता रहेगा विदेशियों के हाथ में और वो कहते हैं वो जो धन हमारा भारत का धन जाएगा विदेशियों में उसमें एटम बम और ये सारे शस्त्र अस्त्र बनाए जाएंगे और भारत को नीचे मारा जाएगा हमारे धन से हमारे धन से हमारा विनाश ये इतना ऋण लेते हैं कंपनी बनाते हैं याद रखना अपनी गद्दी को बचाने के लिए करते हैं मूल में ये बात है नहीं समझे आप हमारी गद्दी कैसे बनी रहे ऋण ले ले करके ले ले कर ऋण ले ले करके नहीं लेना चाहिए तो भी लेना गद्दी बनाई रखनी है और भारत को बिल्कुल गुलाम बना देना अर्थव्यवस्था ये राजनीति वाले के काम एक बात आप बैठे बैठे देखते रहो और मैं भी देखता रहूं और होने दो <laughs> एक तो ये स्थिति है <laughs> और यह सोचो हम इन्हें गिने व्यक्ति क्या कर सकते ये तो होगा हम नहीं कर सकते कौन सा सोचोगे आप आप बोलो क्या सोचो नहीं पता या स्वामी समर्पणान जी वाली बात सोचोगे तुझको क्या और मुझको क्या माँ का बेटा कहता है मैं ब्रह्मचारी रहूंगा और वेद का विद्वान बनूंगा और पाखंड का खंडन करूंगा मेरा जीवन केवल देश के लिए होगा वेद के लिए होगा ये अंधकार में आ गया है मत मतांतर फैल गए माँ कहती है तुझको क्या पड़ा तुझको क्या ये रोग बेटा तुझको क्या होने दो जो हो रहे हो माँ कहती है लेके चलना पड़ता है कि हम यही करेंगे विषय में मैंने संकेत किया बताया कि भारत की स्वतंत्रता के विषय में भारत की सुरक्षा के विषय में फिर वैदिक धर्म के विषय में क्या हो रहा है अन्य संप्रदाय कितना प्रचार कर रहे हैं उनके लोग कितने हैं कितने वह ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं कितने अपना तन मन धन से लगे हुए हैं आंख बंद करके लगे हुए हैं एडी से चोटी तक का जोर लगाते हैं और उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बना रखी है साधारणतया व्यक्ति उनके प्रभाव में आके झट उनका बन जाता है इतना भारी उनका प्रेम इतना भारी उनकी सेवा इतना भारी उनका संगठन है इतना अनुशासन इन चीजों को वो हम देख रहे हैं तो निराशावादी बनना भी आपको सुना सुनाया गया था निराशावादी बनना हानिकारक है और आशावादी बनना लाभप्रद है सभी सिद्धांतों को याद रखिए जहां जहां जो कड़ी सुनाई जाती है उसको याद रखिए और समय पर उसका प्रयोग करिए यदि ऐसे आप करेंगे तो ये जो विवरण है या व्याख्या है उपदेश है इसमें सारी रूपरेखा मानव जीवन की बता दी जाती है ऐसा करने से सफलता मिलेगी आप समाज को सफल बनाएंगे ऐसा करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी समाज को कोई देन नहीं दे सकेंगे ये सारा विवरण व्याख्यान आपको सुनाया जाता है यदि आपको याद है या लेखबद्ध है उसका प्रयोग करते हैं तो ये हो नहीं सकता कि आप मान लो पांच दस हैं और ये अच्छी तैयारी करते हैं तो इतने ही लोग लोगों का दिमाग बदल देते लेखन के माध्यम से चरित्र के माध्यम से उपदेश के माध्यम से संगठन के माध्यम से परंपरा अध्ययन अध्यापन के माध्यम से गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में वो इतने ही लोग दिमाग बदल देते हैं दुनिया तो हमको ऐसी तैयारी करनी चाहिए इतनी योग्यता बनानी चाहिए उसमें हमको सफलता मिलेगी हम समाज को राष्ट्र को देने देंगे आगे बढ़े तो विश्व को भी देंगे अब विराम सम्मान्य विद्युतगण धर्म प्रेमी सज्जनों तथा माताओं आपको ये सिखाया जाता है पढ़ाया जाता है कि मानव जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना और करवाना है इसको इस दृष्टि से आप न पढ़ें न सुने कि ये केवल कहने की बातें हैं संदेह होता है कई बार व्यक्ति के मन में कि मुक्ति मोक्ष पता नहीं प्राप्त होता है या नहीं ये संदेह होता है हाँ जी ध्रुव देव जी बोलेंगे होता है नहीं होता होता है स्वामी और कौन कौन बोलेंगे रणवीर जी रूप में ऐसा लगता है स्वामी जी कुछ संदेह होता है हाँ जी विशाल जी हाँ जी और कौन बताएगा दिनेश जी बोलेंगे मोक्ष होता है स्वामी एक तो ये ना उसमें संदेह का होना और एक मोक्ष होता है मुक्ति होती है संदेह का न होना ये प्रश्न है संदेह नहीं है मुझे तो इस बारे में अच्छा आप बोलो नहीं है आप बोलो कभी कभी संदेह होता है इसमें हाँ जी संदेह नहीं होता अच्छा आप बोलो कभी कभी संदेह होता है हाँ कभी कभी संदेह होता है हाँ जी आप बोलो मुझे नहीं होता संदेह मुझे संदेह नहीं होता साधक जी बोलेंगे कोई संदेह नहीं है संदेह एक बात है कि कभी कभी जिस स्थल पर जाके संदेह होता है उस स्थल पर जाके व्यक्ति संदेह को देख नहीं पाता अब क्या समझ में आया कम समझ में आया होगा स्थिति में उस स्थल पर गया संदेह युक्त व्यक्ति अपने को संदेह युक्त नहीं मानता है हाँ जी रणवीर जी बोलिए क्या कहा व्यक्ति जिस स्थल पर संदेह से युक्त हो जाता है उस स्थल पर जाकर देखता नहीं कि मैं संदेह से युक्त हूँ या नहीं और वो मान लेता है मुझे संदेह नहीं है अब क्या समझ में आया बात तो समझ में आई या नहीं आई है नहीं आ रही नहीं आ रही पकड़ पे जब कोई अंतिम निर्णय करना पड़ता है किसी विषय का अंतिम निर्णय और अपने आप से व्यक्ति पूछता है कि क्या इस विषय में मुझे संदेह है गहराई में जाता है और क्या मैं निसंदेह है ये कह सकता हूं मैं मुक्ति को मानता हूं शत प्रतिशत तब संदेह होता है नहीं तो नहीं होता कुछ समझ में आई जब कहा जाता है ईश्वर है हाँ है और 20 वर्ष से व्यक्ति कहता आया 40 वर्ष से हाँ ईश्वर है सब कुछ अब उससे कोई पूछे कि आप ये बतला हो ये ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वव्यापक जैसा बताया क्या आप इसको शत प्रतिशत जैसा बताया सुना ऐसा मानते हैं या नहीं गहराई से बताओ सूक्ष्मता से वो सोचता है अपने ऊपर दबाव डालता है कि मैं अंतिम निर्णय देना चाहूं तो क्या मैं दे सकता हूं कि मैं शत प्रतिशत मानता हूं तब उसको संदेह हो जाएगा कुछ तो समझ में आया आगे संदेह कारण क्या समझ वो संदेह इसलिए हुआ कि जो अंतिम निर्णय व्यक्ति जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहता साधारण रूप से निर्णय कर लेता है किसी ने ये कहा समझाने की दृष्टि से ये अमुक ब्रह्मचारी या अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है उसने सुना उसने कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा व्यक्ति है ये बहुत अच्छा व्यक्ति है जब किसी ने संशय उत्पन्न कर दिया या बात उठ खड़ी हुई कि ये व्यक्ति उसने सुना किसी से दूसरे से कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है दूसरे ने कहा हाँ हाँ ये अच्छा नहीं है इतने कहने के पश्चात उसी व्यक्ति में संदेह होगा जिसको बहुत अच्छा मानता था दो विचारों का टकराव होता है वहां संदेश उत्पन्न होता है कुछ समझ में आया है जी टकराव कैसे हो रहा है टकराव ये हुआ कि एक पक्ष तो कहता है ये व्यक्ति बहुत अच्छा है तो ठीक है समझ आ गया हाँ। जो साध्य विषय है हाँ अब देखिए अंतिम जो सत्य का निर्णय देना जब कहेगा व्यक्ति ये व्यक्ति शत प्रतिशत दोषी नहीं है न्यायालय में ले जाए आप उस समय आपको संदेह होगा कि मैं ऐसा निर्णय दू या नहीं दू जब न्यायालय में आपको नहीं बुलाया था और निर्णय नहीं उस समय कहते थे ये अच्छा व्यक्ति है अच्छा व्यक्ति है अच्छा व्यक्ति है आप उसको अच्छा मानते रहे अब जो अंतिम निर्णय देना पड़ेगा जहां हजारों लोगों की दृष्टि में आप आएंगे क्या वहां बिना परीक्षा किए अंतिम निर्णय देंगे कि ये व्यक्ति शतपति से दोष रहित है वहां संदेह हो जाएगा आप यदि उसके विषय में कोई गलत बात सुने में नहीं आई और सुनिए उसके में नहीं आई हो तो भी अपने मन में जो उसमें खोज खोजनी थी संशय के क्षेत्र में वो खोज नहीं की है उसने उससे भी संदेह होता है स्वयं अपने आप से पूछो आप अपने आप से पूछ के देखो एकांत में बैठ क्या वास्तव में मैं मुक्ति को मानता हूं शत प्रतिशत जैसा ये आग जल रही है ये जला डालेगी शत प्रतिशत मानता है ऐसा क्या मुक्ति के विषय में ऐसा निर्णय है जैसा अग्नि के अंदर जलना निश्चित है ऐसा मुक्ति निश्चित है अपने से पूछेगा वो स्वयं से उसको संदेह हो जाएगा कि भाई ऐसा निर्णय तो नहीं है अंतिम निर्णय जो व्यक्ति जब करता है संदेह उसमें भी उत्पन्न होता है अंतिम जब निर्णय करता है किसी विषय अंतिम निर्णय संशय रहित निर्णय अब एक दूसरा दृष्टांत देता हूं यह कम समझ में आया दूसरा देता हूं ये व्यक्ति कहता है मानता है सुनता है लिखता है पढ़ाता है कि इंद्रियों के विषय भोग में दुख है दुख है ये बीस वर्ष से पढ़ता है पढ़ाता भी है पर जब विषय भोग की सामग्री उसके सामने आती है तो उस समय उसको संशय हो जाता है कि वास्तव में विषय भोग में सुख है या दुख भी है दुख ही दुख है या सुख भी है ऐसा संदेह हो जाएगा अब आया समझ में मोटे रूप में तो यही कहता है विषय भोगों में दुख है क्लेश है आपत्तियां हैं बाधाएं हैं ये सब सुनता है और जब वो मन स्थिति में जाएगा अपने से पूछेगा क्या वास्तव में इनमें दुख ही दुख है तो उसको संदेह हो जाएगा कि दुख ही दुख है इनमें दुख भरा हुआ है वो उसके मन में बात नहीं बैठेगी संशय हो जाएगा एकांत शांत वातावरण में बैठिए आप और एक विषय का निर्णय अंतिम निर्णय करिए आप अंतिम जो तीन काल में सत्य होगा उस समय संशय होगा उन बातों में नहीं तो नहीं होगा ऐसा क्षेत्र है बहुत सा साधक जी आई बात समझ में जब गंभीर विषयों में आप अंतिम अंतिम निर्णय जो तीन काल में सत्य होगा उसको असत्य कोई सिद्ध कर नहीं सकता तब संशय होगा आपको जब तक आप ऐसी स्थिति नहीं बनाना चाहेंगे तीन काल में उसको सत्य सिद्ध करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक उस विषय में संदेह नहीं होगा वो मोटा क्षेत्र में तो संदेह नहीं आपको जब आप कहेंगे कि इकतीस नील दस खरब चालीस अरब बरस तक जीवात्मा ईश्वर को प्राप्त करके इतने काल तक मुक्ति में रहता है आनंद भोगता है सूर्य चंद्रमा में कहीं भी जाना चाहता है वहीं विचरता है और फिर मनुष्य जन्म ले लेता है आप सच बोलो बताओ <laughs> क्या ये बात सत्य है तब बल पड़ेगा आपकी बुद्धि पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा है जी बताओ तो बल पड़ेगा आपकी बुद्धि पे वेदमुनि जी थकान तो नहीं आ रही है ऐसे ढीले डाले बैठ जाते हो और फिर थोड़ा सा ऊंग नारम कर देते हो आप यदि आपसे ये कहा जाए कि मैं जो प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर देना पड़ेगा तो फिर सचेत रहेंगे आप हैं अथवा आज आप इस पाठ को पढ़ाएंगे तो फिर के पश्चात या कभी बड़ा ध्यान से सुनेंगे पढ़ाना पड़ेगा इसलिए अब जो आपको ये बात उठा के समझाई जा रही इसका मूल्य क्या है इसको भी आप कम ही समझते हो ये बात जो सुनाई जा रही आप बताओ कुछ समझ में आता इसका मूल्य हाँ जी संदीप जी क्या समझ में आ रहा है मूल्य नहीं है तो मैं बताता हूं जब कोई भी विषय हमारे लिए आवश्यक है ये सत्य है या सत्य ये ठीक है ठीक नहीं है ये तीन काल में सत्य है भी या नहीं हम इसका निर्णय करना चाहते हैं और हमारे लिए आवश्यक हो गया है इसके बिना हम चल नहीं सकते उस मार्ग पर तब यदि संशय रहता है तो आप उस पर मार्ग पर चल नहीं पाएंगे यदि संशय रहित हो जाते हैं तो आप एडी से चोटी तक का जोर लगा देंगे उसके ऊपर पीछे हटने वाले नहीं आप संसार कुछ भी कहता रहे उसको छोड़ेंगे नहीं आप अब अंतिम निर्णय जब करना चाहते हैं उसका कितना मूल्य है आप इससे बुद्धि से सोचो अंतिम निर्णय करना चाहता है व्यक्ति जिसके ऊपर सदा चलता रहूंगा ये सत्य ही है ननूनच नहीं है उस समय उसके मूल्य का पता चलता है यदि पता चल गया कि शत प्रतिशत सत्य ही है ये तो वो व्यक्ति बिना किसी संदेह के संदेह रहित होकर पूरा जोर लगाएगा और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा यदि संदेह रहित नहीं होता तो पूरा जोर नहीं लगाएगा आप इसका अनुभव कर सकते हैं इसी शरीर में रहते हुए समाधि लग जाएगी या लगती है और आनंद ही आनंद मिलता है दुख दूर हो जाते हैं आपको इस विषय में संशय है या नहीं संदीप जी बोलेंगे है क्या है हाँ संदेह रणवीर जी बोलेंगे अच्छा आप बोलेंगे संदेह हाँ जी अब सूक्ष्मता से लगता है संदेह है सूक्ष्मता साधक जी संदेह नहीं है और जी आप बोलो आप बोलो समाधि के विषय में संदेह नहीं है परंतु सारे दुख छूट जाएंगे इस विषय में संदेह है अच्छा इन्होंने दो बात बताई समाधि के विषय में तो संशय नहीं है पर दुख छूट जाएंगे इसमें संशय है अच्छा समाधि प्राप्ति से ए, क्या लाभ होता है ज्ञान की प्राप्ति होती है आनंद की प्राप्ति होती है अच्छा जब ज्ञान आनंद की प्राप्ति होती है तो क्यों नहीं छूटेंगे तो हमेशा के लिए सब समय के लिए दुख छूट जाएंगे तो नहीं आपने बात बदल दी वो काफी समय के लिए क्या प्रसंग नहीं था दुख छूट जाएंगे इतनी तक सीमा बनाई थी हमने तो हमने ये नहीं बनाया कि कितने समय तक विषांतर हो गया वो विषय नहीं रहा जो पहले आपने संदेह की बात उठाई थी स्वामी जी समाधि की अवस्था में तो दुख नहीं रहेगा परंतु समाधि से भिन्न अवस्था हाँ ये इतना ही हम कहलाना चाहते थे चाहे जितनी देर तक समाधि रहे इतने तक दुख छूटता या नहीं बस इतने का उत्तर देना था इसलिए ये बुद्धिमत्ता की बात वहां होती है विषय को उसी सीमा में रख के उत्तर देना चाहिए यदि विषय से बाहर होकर उत्तर देंगे तो गलत हो जाता है ये भी बड़ा बुद्धिमत्ता का कार्य है अच्छा अब आप में से कुछ को तो संदेह है और कुछ को समाधि के विषय में आपका नाम तो क्या पार्वती है क्या पार्वती जी बोलेंगी समाधि में सारे दुख दूर हो जाते हैं और आनंद मिलता है इसमें संदेह है या जरूर मिलता है अब पार्वती जी ने सरलता से उत्तर क्यों दे दिया और आपने कहा संदेह बताओ अंतर क्या है दोनों <laughs> उनकी श्रद्धा है उनके अंदर ये भाव है उन्होंने सुना है पढ़ा पर गहराई में जा जा करके सूक्ष्मता से गोते लगा के नहीं देखा इसलिए संदेह नहीं है अब क्या समझ में आया क्यों साधक जी है ना ही बात जो वही व्यक्ति जब पहले पहले ए, मोटे रूप में उसको बिल्कुल ठीक मान के चलता है और इतना ही नहीं ये तो वैदिक धर्म को जानती मानती समझती है ये करोड़ों लोग जो है ना दूसरे मत वाले इनके दिमाग में बात बैठाई लोगों ने कि तुम ऐसा किया करो तुम इतना लंबा चौड़ा मंदिर बनवा दो तुम इस प्रकार से इतना दान दे दो तुम इतने ब्राह्मणों को भोजन करवा दो तुम इसी प्रकार से तुम सीधे मुक्ति में चले जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी अच्छा वो ज्यो का त्यों मान के चलते रहते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है और गुरु जी की सेवा करो पढ़ना पढ़ाना कुछ नहीं इसे मोक्ष में चले जाओगे करोड़ों लोग ऐसा मानते हैं और उनके मन में संदेह दिखाई नहीं देता जब बाहर से पूछो संदेह दिखाई नहीं देता पर वही व्यक्ति जब गहराई से सोचेगा वही व्यक्ति गहराई से जब उसे पूछा जाएगा तब उसके मन में संदेह होगा अपने शिष्य शिष्याओं से वो किसी से बात ही नहीं करने देते कि इनके मन में शंका ने उभार दे कोई और शंका उभार दी तो उनमें संदेह हो जाएगा <laughs> संदेह होगा तो हमारी बात नहीं मानेंगे आंख बंद करके इतने इतने लोगों को मार दो हत्या कर दो तो मुक्ति में चले जाओगे क्योंकि बिल्कुल ठीक बात है और इतने को मार डालेंगे और कहीं यहाँ निश्चित रूप में इतने को मारा है और मुक्ति में चले जाएंगे <laughs> ऐसा उसके दिमाग में बैठा दिया उनको सिखाया गया कि गुरु जी के समर्पित कर दो सब कुछ सौंप दो जीवन और वो ईश्वर की प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति करवा देवेगा अब उन्होंने समर्पित कर दिया और वो ये मान के चलते हैं कि निश्चित रूप में गुरु जी मोक्ष में भेजेगा हमको ईश्वर का दर्शन करवाएगा और निश्चिंतता से रहते हैं आपने देखा सुना हो या नहीं देखा सुना बहुत से लोग हैं यदि उनके समक्ष प्रश्न उठा दिया जाए तो गुरु जी बिना परिश्रम के बिना विद्या के बिना यम नियम पालन के बिना योगाभ्यास के वो सारे परिश्रम के तप त्याग के बिना मुक्ति में पहुंचा